तृतीय मंत्र चलेगा येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य इति या पूर्व विचिकित्सा प्रश्नमूलत्वेन उद्भाविता सापि निर्मूलित्येत दर्शयितुं देह व्यतिरिक्त आत्मा स्थित साधयति पहले नचिकेता ने पूछा था ये यम प्रेत विचिकित्सा ये यम यह जो विचिकित्सा संशय है मृत्य आत्मा है कोई कहते कोई कहते नहीं है ये मनुष्य में संशय सबको है जो पहले कही गई थी विचिकित्सा या पूर्वम विचिकित्सा प्रश्न मूलत्वेन उद्भाविता प्रश्न का मूल है संशय ऐसे लोक में संशय होता है इससे अभिप्राय से संशय निवृत्ति के लिए नचिकेता ने पूछा था प्रश्न का मूल हो गया संशय विचिकित्सा संशय प्रश्न मूलत्वेन विचिकित्सा कही गई उद्भाविता सापि निर्मूला वो संशय होने में कोई कारण मूल नहीं है ऐसे विचार के बिना संशय करते हैं विचार करने से संशय नहीं होगा उसका कोई मूल नहीं है इसको दिखाना चाहते हुए श्रुति इसको दिखाना चाहती है ऐसा संशय का कोई मूल नहीं है आत्मा है क्योंकि देह व्यतिरिक्त आत्मा स्थितम देह से अन्य आत्मा है ये सिद्ध करते हैं देह से अतिरिक्त आत्मा है तो देह नष्ट होने पर भी आत्मा रहेगा आत्मन स्वरूपाधिगमे लिंगम उच्यते आत्मा का स्वरूप है उसका अधिगम ज्ञान के लिए लिंग हेतु देते हैं प्रत्यक्ष नहीं दिखने पर भी हेतु से ज्ञान होता है जैसे पर्वत में कहीं धूम वन्नी है दिखती नहीं धूम नीचे से ऊपर निकल रहा है लगातार तो लोग निश्चय करते वन्नी है धूम को दे करके विलक्षण धूम को दे करके नीचे से ऊपर निकल रहा है अविच्छिन्न मूला रेखा मूल रेखा विच्छिन्न नहीं हो तो देखते तो जरूर बनी लिंग से भी हनुमान से भी निश्चित हो जाता है अनुमान प्रमाण लोक में भी होता है तो पशु पक्षी भी तो खाद्य दिखाते तो पास में आ जाते हैं लाठी देखे तो भाग जाते हैं अनुमान करते प्रत्यक्ष तो लाठी देखते हैं कि अनुमान करते लाठी से पिटाई करेगा भाग जाते हैं और खाद्य घास देखा है तो गोपास में दौड़ जाती है वो भी अनुमान प्रमाण है अनुमान प्रमाण से खाद्य देखते तो ये अनुमान नहीं करेंगे तो खाद्य भी भोजन खा नहीं सकते कोई सामने आया भोजन वो आप खाते हो ये भोजन करने से क्षुधा निवृत्ति होगी ये कैसे प्रत्यक्ष दिखेगा भोजन में प्रत्यक्ष दिखता है क्षुधा क्षुधा निवर्तकत्व वो अनुमान करेंगे पहले कहा था भुक्षुदा निवृत्ति हुई थी ये भी उसकी सजातीय है ऐसे अनुमान करके ये मेरा इष्ट साधन है ऐसे खाता है शब्द प्रयोग करते हैं कोई जिसमें संशय करता है नहीं समझ पाता है तो फिर दोबारा कहते हैं इस अनुमान प्रमाण से लोक में भी व्यवहार होता है तो उसका लिंग हेतु देते हैं आत्मस्वरूप है ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीन विश्व देवा उपासते प्राणम ऊर्ध्वम उन्नयति अपानम प्रत्यगस्यति मध्ये वामनम आसीनम देवा उपासते मध्य वामन भजनीय आत्मस्वरूप है उसको सब देवता उपासना करते विश्व देवा सर्वे देवा उपासना करते हैं ऊर्ध्वम प्राणम प्राण अपनादि वायु है जड़ है तो भी जो प्राण ऊपर जाता है श्वास प्रश्वास चलता है जो बाहर निकलता है ऊपर जाता है ऊपर जो निकलता है वो प्राण जो ग्रहण होता है नीचे गति अपान श्वास छोड़ते हैं नाक से मुख से बाहर निकालते वो प्राण है जो खींचते ग्रहण करते वो अपान का व्यापार है तो प्राण वायु को ऊपर छोड़ छोड़ता है अपान को नीचे फेंकता है ये मध्य में रहते हुए वामन आसन बैठा हुआ स्थित है सब देवता उपासना करते हैं सब देवता में ये चक्षुरादि इंद्र को देवता सब से कहते हैं ये सब विषय ग्रहण करके उसके लिए भेंट चढ़ाते हैं उपासना करते हैं ऊर्ध्वम ऊर्ध ऊपर कहाँ से ऊपर हृदयात हृदय के ऊपर प्राणम उन्नयति प्राण का तो प्राण वृत्ति वायु प्राण पानादि पांच वृत्ति प्राण मुख्य प्राण का पांच भाग हो जाता है व्यापार अलग-अलग होता है उन्नयति का तो उद नयति ऊर्धम गमयति हृदय के ऊपर प्राण वायु को छोड़ता है उठाता है तथा पानम प्रत्येक अस्यति प्रत्येक अदध असुक्षेपण क्षिपिता है फेंकता है नीचे लेता है य जो लेता है इति वाक्य शेष यत पद नहीं दिया मंत्र में जो ऐसा करता है उसकी उपासना करते हैं तम यह ऊपर प्राण को पे लेता है उठाता है नीचे अपान को फेंकता है उसी को तम मध्य वामनम आसनम विश्वदेव उपासते मध्य का तो मध्य में हृदय पुंडरी का आकाश है हृदय पुंडरिक हृदय पुंडरी का कमल के समान है उसके अंदर आकाश छिद्र है उसमें स्थित है मध्य आसीनम आसीन का तो बैठा हुआ आसोपविष्णु ने स्थित है वहाँ स्थित क्या है ब्रह्म तो आत्मा व्यापक है तो बुद्धि में क्या स्थित है बुद्धा अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशम बुद्धि में अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशो यस्य आत्मन तम उसमें विज्ञान रूप प्रकाश अभिव्यक्त होता है बुद्धि में विज्ञान ही प्रकाश है विज्ञान प्रकाश ज्ञान और प्रकाश यहाँ प्रकाश आलोक नहीं है ज्ञान रूप प्रकाश वो विज्ञान प्रकाश अभिव्यक्त होता है बुद्धि में सर्वत्र होने पर भी अभिव्यक्त नहीं होता है वन्नी दीवाले में काष्ठ में पत्थर में होने पर भी अभिव्यक्त नहीं है पिटने पर आघात होने से अभिव्यक्त होती है इसी प्रकार सर्वत्र आत्मा व्यापक रूप से स्थित होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति अंतकण में होती है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब होता है दर्पण पृथ्वी है उसमें प्रतिबिंब दिखता है लकड़ी में पत्थर में मिट्टी में नहीं दिखता है इसी प्रकार भूत भौतिक सब कुछ है पदार्थ बुद्धि में स्वच्छता है उसमें उसकी अभिव्यक्ति होती है अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाश अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशो यस्य स बुद्धा अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाश बुद्धो तो अलग पद है अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाश से स अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाश आत्मा बुद्धि में ही वामनम संभजनियम विश्व देवा उपासते सब देवता विषय का सर्वे देवा चक्षुरादे प्राण उपासना क्या करते हैं रूपादि विज्ञान बलिम उपाहरंतो विषय व राजान उपासते हैं इसे वैश्य लोग वाणिज्य करते हैं राजा की उपासना करते हैं कर देते हैं धन देते हैं इसी प्रकार ये सब चक्षुरादि इंद्रिय भेंट चढ़ाते हैं बलि देते हैं उपहार क्या देंगे रूप आदि विज्ञान अपने अपने विषय ग्रहण करके उसको दे देते हैं तो बुद्धि में उसका ज्ञान होता है बुद्धि में आत्मा है वो भेंट उसको चढ़ाते हैं बलि मुपहारंत तो विश्व के वैश्य के समान उपासना करते हैं ये वैसे राज्य की उपासना करते अर्थात तादर्थेन अनुप्रत व्यापार भवंती इत्यर्थ उसी के लिए ही इंद्रिय व्यापार करती रहती है अनुपरतः व्यापार ये सामते अनुप्रत परत व्यापार व्यापार से उपरत नहीं होते जागृत अवस्था में इंद्रिय विषय ग्रहण करते रहते हैं स्वप्न सुश्रुति में उपरत हो जाते हैं तो ग्रहण करके उसको देते हैं यदर्था यत प्रयुताश्च सर्वे वायुकरण व्यापारा सो अन्य सिद्ध इति वाक्य शेष यदर्था यस्मै इमे इति यदर्था इमे के व्यापार जिसके लिए व्यापार है वायु करण व्यापार यत प्रयुताश्च येन प्रयुता जिससे प्रेरित तो होते प्रयोजक है आत्मा उससे प्रयुक्त उसके लिए उससे प्रेरित होकर के सर्वे वायु कर्ण व्यापार वायु प्राण का व्यापार इंद्र का व्यापार जो प्रयुक्त होते व्यापार होता है उसके से प्रेरित होकर के सो अन्य वो अन्य सिद्ध हो इति वाक्यार्थ ये श्रुति का अर्थ हुआ सब ये कार्य करण इंद्रिय संघात से अलग है आत्मा जो ये सब व्यापार कराता है जिसके कारण ये सब व्यापार व्यापार से उपरतन होकर अपने अपने व्यापार करते हैं टीका में सर्वे प्राण कर्ण व्यापारास चेतनार्थास तत्प्रयुता भवितुमर्हन्ति जड़ चेष्टात्वाद रथ चेष्टावत इत्यर्थ रथ की चेष्टा चेष्टा का तो व्यापार है रथ में जो व्यापार है उसमें जड़ रथ है जड़ जड़ का व्यापार है रथ व्यापार है तो जड़ चेष्टात्वाद हेतु है तो यहाँ भी रथ में चेष्टा होती व्यापार होता है कोई किसके लिए रथ स्वामी बैठ कर जाता है और सारथी उसके द्वारा प्रयुक्त हो करके चलाता है तो जो रथ स्वामी है उसके लिए उसके द्वारा प्रेरित होकर के रथ सारथी अश्वादि चलने से रथ की चेष्टा होती है तो रथ चेष्टा जिसके लिए जिससे प्रेरित होकर के होती है वो रथ से भिन्न है कोई एक चेतन है इसी प्रकार यहाँ प्राण करण व्यापार प्राण के व्यापार इंद्रियों का व्यापार होता है व्यापार सर्वे प्राण करण व्यापार कोई चेतन के लिए ही चेतन से प्रेरित होकर के होते हैं व्यापार चेतनार्थात चेतत प्रयुता भवितुम अर्हन्ति चेतनार्था चेतनाय इमेति चेतनार्था चेतन के लिए और तत्प्रयुता चेतन न प्रयुता चेतन से प्रेरित होकर के कोई चेतन है जिसके लिए व्यापार होते हैं जिससे प्रेरित होकर व्यापार करते हैं होना चाहिए क्योंकि जड़ चेष्टा है प्राण इंद्र सो जड़ है जड़ में चेष्टा होती तो किसके द्वारा प्रेरित होकर व्यापार होता है स्वतः व्यापार जड़ में नहीं हो सकता है और जिसके लिए होता है व्यापार वह अन्य है चेतन कोई है वही सिद्ध होता है वही आत्मा है देह आदि संघात से विलक्षण किंच आगे मंत्र अस्य विश्रंस मानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहादिमिमुच्य मानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत् अस्य विश्रंस मानस्य शरीरस्थस्य देहिनः शरीर में स्थित देही देह स्वामी विश्रम समानस्य नीचे विश्रम समान निकल जाता है देह से निकल जाता है विमुच्य मानस्य वही विश्रम समान का अर्थ है देह से निकल जाता है प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर देह में नहीं रहेगा जितने प्रयास करें कुछ भी इच्छा करें प्रारध समय आने पर कोई रखेगा नहीं एक क्षण भी नहीं रहेगा चल जाएगा तुरंत राजा महाराजा कोई भी सम्राट कुछ भी हो जितने अपने को बुद्धिमान माने जितने संपत्ति इकट्ठी करे समय आने पर गया आगे किसके पास कहने का नहीं किसके जाकर कहेंगे या थोड़ी देर रुक जाओ <laughs> अभी थोड़ी देर बाहर जाएंगे ऐसा नहीं आया तो गया और कोई नहीं आगे पीछे कुछ करने का नहीं है पहले नोटिस में नहीं आती है जब आया तब गया निकल गया बहुत सोचता है जीव मनुष्य क्या करेगा क्या करेगा बहुत सोचता सोचता और सोच ये नहीं सोच पाता है मरना तो है किंतु इतने जल्दी नहीं है ऐसे सोते सोते कभी चला जाता है इसलिए हमेशा ही उसको याद रख करके कभी चला जाना समाप्त हो जाएगा प्रारब्ध समाप्त होगा कोई रखने वाला नहीं देर से निकल जाता है प्रारब्ध समाप्त होने पर देह से निकल जाने पर क्या और बचता किमतर परिशिष्टते जीव जाता है तो इंद्रिय प्राण अंतकण सब गए कोई नहीं रहा खाली स्थूल शरीर पड़ा रहा सब चला गया कौन रहा कौन बचेगा ये आत्म देही चला गया एक क्षण में कोई नहीं रहा सर ऐसे गिर गया फिर उसको छू छूने के लिए अशुद्धि दूर से <laughs> पहले तो पूजा करते हैं बड़े बड़ा शोभा अपने आप ही कितने सजाता है देह को दुर्गंध दूर करने के लिए बहुत प्रयास करता है किंतु चला गया तो अपवित्र इतना अपवित्र कोई चुना नहीं चाहेगा बस वो जिसके चले जाने पर शरीर एकदम पाप एकदम हो जाता है अपवित्र हो जाता है वही आत्म तत्व एतद वेतत यद्यपि शुद्ध आत्मा का निकल जाना नहीं होता है किंतु का आत्मा अंतकण चल जाने से तद विशिष्ट चला गया ऐसे व्यवहार होता है वो वही एतद वेतत ही जीव शब्द ही जीव ही शब्द का वाच्यार्थ चला जाता है लक्ष्यार्थ नहीं जाता रहता है तो जीव जो चला जाता है उसका लक्ष्यार्थ ही ब्रह्म है एतद वेतत तुमने जो पूछा उसको दिखाने के लिए शुद्ध स्वरूप को दिखाने के लिए ये वाच्यार्थ के द्वारा दिखाते हैं रज्जु को दिखाने के लिए सर्प को दिखाएंगे रज्जु में सर्प दिखता है और कहते रज्जु है सर्प नहीं पूछता है बच्चा रज्जु कहाँ है किसको दिखाएंगे वो सर्प को दिखा दो कहते वो सर्प है रज्जु मुझे दिखाओ पिता गुरु कहाँ उसको रज्जु दिखाएंगे वो कहता रज्जु कहाँ है पिताजी कहते वही रज्जु है किसको दिखाएं रज्जु कह करके सर्प को दिखाते वो कहे ये तो सर्प है रज्जु दिखाओ तो कहाँ दिखाएंगे वही रज्जु है तो आरोपित सर्प के द्वारा रज्जु को दिखाते हैं इसी प्रकार ये वाच्यार्थ जीव कथन करके उसके द्वारा लक्ष्यार्थ बताते हैं वही कोई है चेतना जिसके प्रतिबिंब चिदाभास होने से अंतकण भी जीव जैसे हो जाता है वो चला जाने पर और कुछ इंद्रिय सत्समदा सब चले गए वही आत्म तत्व है ठीक है भाष्य में अस्य शरीरस्थस्य आत्मनो विश्रम समानस्य विश्रंसमान अवश्रंसमान से उसका अर्थ भ्रंसमान से भ्रष्ट हो जाता है निकल जाता है देही न शरीर से देही न देह से अति देह न का देहवत देह वाले देह वाले शरीर से निकल जाता है उस देही का न शरीर स्वयं देही स्वयं निकल जाता है शरीर में स्थित देही अस्य न शरीर देह वाले आत्मा का विश्रम समानस्य उसका अर्थ देहादि विमुच्य मानस्य देह से निकल जाता है विश्रंसन शब्दार्थमा देहादि विमुच्य मानस इति जो ऊपर कहा विश्रंस मानस्य शरीरस्थ से देह न देही शरीरस्थ है ये निकल जाता है विश्रंस मान का अर्थ विमुच्य मानस्य विश्रंसन शब्दार्थमा श्रुति स्वयं कहती देहाद विमुच्य मानस्य इति देश से निकल जाता है कब निकल जाता है प्रारब्ध समाप्त होने पर प्रारब्ध कर्म लेकर के आया जिसको इस जन्म में भोगना है पुण्य पाप लेकर के आया ये जितने कर्म लेकर आया है उसका भोग करना ही पड़ेगा पूरा पूरा पुण्य और पाप सब कर्म लेकर आया जितने उसका भोग करना पड़ेगा वो समाप्त होने पर एक क्षण में नहीं रहना और समाप्त नहीं कुछ बाकी है तो भोगना पड़ेगा भोग करके जाना पड़ेगा प्रारब्ध समाप्त तो निकल जाता है किमतर परिशिष्यते अब क्या बचता है वो निकल गया तो सब सूक्ष्म सर प्राण इंद्र सब भागे उसके पीछे प्राणादि कलापे न किंचन परिशिष्यते प्राणादि समुदाय में कार्य कौन संघात में कुछ नहीं रहा हो चला गया सो अतर देह पूर्व स्वामीन विद्रमण इव जिसे एक घर के स्वामी चला गया पूर्ववासी नगर में सब विद्रमणेव पुरुषावासी नाम यस्य आत्मनो अपगमे तो स्वामी चला जाने से उसके पुरवासी सब चले गए राजा चले गए तो सब चले गए उसके पीछे दूसरे मकान में राजा गया इसको छोड़ करते वो कह नहीं रहे सब चले गए इसी प्रकार यस्य आत्मनो अपगमे क्षण मात्रात कार्यकण कलाप रूपम सर्वमिदम अतबलम विद्वस्तम भवति विनष्ट भवति सो अन्यः सिद्ध जिस आत्मा का अपगम होने पर चल जाने पर एक ही क्षण है देर नहीं लगता क्षण मात्रात कार्यकरण कलाप रूपम सर्वमिदम अतबलम कार्य शरण करण शरीर कर्ण इंद्रिय इसके समुदाय ये संघात कार्यकरण संघात सर्वमिदम हतबलम बल रहित हो गया आगे कुछ नहीं विध्वस्तम नष्ट हो गया जितने मजबूत शरीर हो जुवावस्था हो चला गया तो मर गया तो गया हतबल हो गया मिट्टी दुर्गंध होने लग जाएगा विनष्टम सर नष्ट हो जाता है जिसके चले जाने से वो नष्ट होता है वो सो अन्य सिद्ध पहले वो आत्मा अलग है जो चला गया निकल गया इसको अलग समझने के बाद फिर वास्तव अर्थ तो समझेंगे अस्ति नास्ति जो संशय करते हैं ये संशय दूर करने के लिए कहते वो आत्मा चला गया ये मर गया तो अलग है वो जिसके चले जाने से ये हुआ जो रहते हुए शरीर इंद्र व्यापार कराता है चले जाने पर शरीर नष्ट हो गया वो अन्य है चेतन है शरीर जड़ हो गया टीका में शरीरम चेतन शेषम तद विगमे भोगानहरत्वाद राजपुरवत राजपुर राज के प्रसाद भोग चेतन चले जाने पर राजा चले जाने पर भोग और योग्य नहीं हुआ भोग भोग अनरत्वम उसमें रहा चेतन के विग में भोग के अयोग्य हो जाना हो जाता है जो मकान वो चेतन का शेष है राजा का उपकार के इसी प्रकार शरीर भी चेतन का उपकार चेतन रहने के लिए शरीर राजा रहने के लिए जैसे प्रासाद है इसी प्रकार शरीर देह देह मकान देह घर के समान है चेतन इसी घर में रहता है तद्विग में चेतन चल जाने से भोग योग्य नहीं रहा जब तक उसको रहना है तब तक है जब तक समाप्त हो गया गया ये बात सड़ने जाएगा दुर्गंध हो जाएगा तद्विग में भोगान रत्वात शरीर घर के समान है देह में अहम बुद्धि करने का अभिप्राय क्या है कोई मकान को मैं माने जिसे मकान में रहता है तो दिखाएगा मैं ही मकान हूँ मकान का दीवार है छाता पर हूं मकान को मैं कोई मानता है इसी प्रकार देह को मैं नहीं माना देह में रहा तो देह आपका है ये मकान के जैसे है तो भी देह में बुद्धि मैं मैं मोटा हूँ पतला हूँ छाती में हाथ लगा कहता मैं मैं चलता हूँ ये सब जो अहम बुद्धि है देह से भिन्न आत्मा को समझना और आत्मा चले जाने से देह नष्ट होता है जब तो आत्मा रहता है सर्वेंद्र व्यापार होता है वो अलग है वो रहता है तो वही सिद्ध होता है चेतन कोई है देह से विलक्षण जिस चेतन का शेष हुआ शरीर विध्वस्तमिति विध्वस्तमिति ये मैं भाष्य में दे टीका में उसको देने का क्या अभिप्राय विध्वस्तमिति विध्वस्तम भवति विनष्टम भवति स्वन्य सिद्ध और विध्वस्तम जो कहा गया जिसके अभाव से विध्वस्तम उसके लिए आगे शंका है तो उसको लेकर कहते अन्यथा सिद्धिम संकते विध्वस्तम इति अन्यथा सिद्धिम संकते विध्वस्तम इति अन्यथा सिद्धिम संकते उसके साथ अन्य होगा जो विध्वस्त कहा विध्वस्तम अन्यथा सिद्धि हो जाती है अन्यथा का अर्थ प्राण आत्मा के बिना प्राण प्राण चले जाने से नष्ट हो गया शरीर विध्वस्तम जो कहा जिस चेतन के चले जाने से शरीर विध्वस्तम हो जाता है उसकी अन्यथा सिद्ध शंका करते विध्वस्त मिति का उत्तर के साथ अन्य करके करेंगे तो ये, अन्य होगा नहीं तो यहाँ जरूरत नहीं पड़ता है विध्वस्त कहा जिस चेतन के निकल जाने से सर नष्ट होता है वो विध्वस्तम विध्वस्तम इति अन्यथा सिद्धि विध्वस्तमिति जो कहा गया उसकी अन्यथा सिद्धि शंका करते हैं श्यान मतम प्राणापानादि अपगमादेव इदम विध्वस्तम भवति न तो तद व्यतिरिक्त आत्मा अपगमात प्राणादि ही मृत्यु जीवति थी स्यान मतम ऐसा हो सके हो ऐसा माने प्राण अपनादि चले जाते हैं सब इसलिए कहते प्राण निकल गया प्राण चले जाने से गया विध्वस्त हो गया सर प्राणादि अप अपगमादेव प्राण अपनादि इंद्रिय सब चले गए इसलिए विध्वस्त हो गया शरीर न तो तद व्यतिरित आत्मा अपगमात उससे अतिरिक्त कोई आत्मा है आत्मा चले जाने से विध्वस्त है इससे तो कोई बात नहीं आत्मा किसने देखा है प्राणपान व्यापार चला गया इसलिए मर गया नहीं मरा देखने के लिए देखते प्राण अपन व्यापार चल रहा है नहीं श्वास प्रश्वास चल रहा है नहीं देख रहे हैं जब प्राण आदि चले गए श्वास प्रश्वास बंद हो गया तो सर विध्वस्त हो गया न तो तद व्यतिरिक्त आत्मा अपगमात प्राणापान से आदि से अलग कोई आत्मा है देह आदि से उसके चले जाने से ऐसी बात नहीं है ऐसा माने शंका करता है प्राण प्राणादि मेरे वही मर्त्य जीवति मर्त्य जो मरण धर्म वाला जीव वो प्राणपान व्यापार से जीवित रहता है जीव प्राण धारण है जीवते प्राण को धारण करता है मर्त्य प्राण आदि से जीवित रहता है प्राण चला गया तो मर गया ये शंका आने पर उत्तर देते हैं नहीं तदस्ति न प्राणेन पानेन मृत्यु जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति एता उपाश्रितौ न प्राणेन न अपानेन कश्चन जी मृत्यु जीवति मरते मरण धर्म वाला जीव प्राण से जीवित रहता है अथवा अपान से ऐसा नहीं कोई भी प्राण से अथवा अपान से जीवित रहता ही नहीं है और कैसे जीवित रहते हैं इतरेन तो जीवंती ये जीव सब जीते हैं इतरेन प्राण अपनादि से भिन्न से जीवित रहते हैं इतर कौन है किसके द्वारा यस्मिन एतौ उपासितौ जिसमें प्राण अपान आश्रित है प्राण अपान भी उसमें आश्रित है प्राण अपान भी आश्रित है प्राण अपान भी उसके कारण व्यापार करते हैं प्राण अपान क्या जिलाएंगे वो भी किसी में आश्रित है अपने व्यापार करते जिसके कारण वो है इतरण उससे जीवित रहते हैं न प्राणेन भाष्य में न प्राणेन नापानेन चक्षुरादि नावा प्राण अपान कह करके प्राण के प्राण से वृत्ति ले लेना और चक्षुरादि को भी प्राण शब्द से कहते कहीं इंद्र के द्वारा भी मर्तु जीवति कश्चन न कश्चन मरते मनुष्य देहवान कश्चन जीवति न कोपि जीवति कोई प्राण अपान चक्षुरादि इंद्रिय से जीवित रहता है ये नहीं है न येषां परार्थानां सहत्यकारित्वात् जीवन हेतुत्वम उपपद्यते ये सब परार्थ है प्राण अपान चक्षुरादि इंद्रिय सब मिल करके अन्य के लिए है परार्थ पर उसमें इमेति परार्थः ये प्राण अपान आदि सब पूरा संघात परार्थ है यह संग, संघात से परार्थत्वात् यह संघात से परार्थ यत्र त संघातत्वं तत्र तत्र परार्थत्वम जिस प्रकार मकान है ईट पतादि समुदाय है पर के लिए गृह स्वामी के लिए होता है इसी प्रकार ये शरीर हाथ पैर आदि सब इंद्रिय आदि मिला हुआ है ये भी एक संघात है इसलिए पर के लिए और पर जो होगा उससे असंगत है जो चेतन घर में रहता है वो मकान दीवार से भिन्न है इसी प्रकार देह इंद्र से भिन्न जीव के लिए शरीर है क्योंकि पर जो संघात होते हैं तो मिल करके करते हैं अकेले नहीं होगा सहत्यकारित्वात् सहत्य इकट्ठे होकर कार्य करते हैं मिलकर कार्य जनक होते हैं सहत्य कार्य होने से मिलकर जो कार्य करते हैं अन्य के लिए करते हैं जीवन हेतु तो न उपपदते ये जीवन का हेतु ये प्राण पनादि नहीं हो सकते हैं ये तो अन्य के लिए करते हैं मिल के कार्य करते हैं अन्य के लिए ईंट पत्थर लकड़ी से मकान बनाते हैं वो मकान अन्य के लिए है इसी प्रकार ये प्राण पानादि चक्षुरादि इंद्रिय मिल करके कार्य करते हैं इसलिए ये दूसरे लिए स्वयं जीवन का हेतु नहीं हो सकते स्वार्थेन असहतेन परेण केनचित प्रयुतम सहतानाम अवस्थान न दृष्टम गृहादिनाम लोके टीका में ननु जीव प्राण धारणे धातु स्मरणाद जीव प्राण धारणे एक धातु है जीव जीवती थी जीव जो प्राण धारण करता उसको जीव कहते हैं नंदी कहे प्रचादि हो लियो निच अच हो जाए जीव जीवति का अर्थ प्राणान धारयति प्राण धारण करने वाले को जीव कहते हैं जिसको प्राणी कहते प्राण संति संतिति प्राणी प्राण वाला को प्राणी कहते हैं वही जीव प्राण धारण करता है जीव है धातु स्मरणार शरीरस्य जीवनम नाम शरीर में जीवन है जीवन है क्या अर्थ प्राण धारण है प्राण चल रहा है तो जीवन है अब प्राण पान व्यापार बंद हो गया तो उसको रखेंगे हटाओ जल्दी जल्दी हटाओ दुर्गंध होगा प्राण धारण ही जीवन है प्राण तो जब तक तो, तो जीवन है नहीं तो मर गया प्राण धारण क्या है प्राण संयोग से प्राण धारणम प्राण संयोग है तो प्राण धारण है प्राण का संबंध है तो प्राण धारण है कुंडे दधि धारणवत कुंडे में दही रख दे दधी कुंडे बर्तन लकड़ी का पत्थर का बनाते हैं उसे दही रखा कुंड में दधि धारण जिस प्रकार होता है इस प्रकार देह में प्राण धारण हुआ प्राण का संयोग है दधि का संयोग होता है कुंड में तत्र च प्राण से हेतुत्वम संयोगाश्रयत्वाद जो प्राण धारण का अर्थ प्राण संयोग असंयोग का आश्रय प्राण होगा घट भूतल का संयोग आश्रय घट होता है भूतल भी होता है इसी प्रकार प्राण संयोग कुंड के साथ दधि का संयोग उसका आश्रय दोनों होते हैं संयोग का आश्रय यहाँ भी इस प्रकार प्राण ही संयोग का आश्रय संयोग का आश्रय होने से संयोग दो में रहता है हस्त पुस्तक संयोग उसका आश्रय कौन होगा हस्त होगा पुस्तक होगा तो प्राण और देह का संयोग है तो आश्रय प्राण भी है देह भी तो प्राण संयोग का आश्रय होने से प्राण हो गया है तो हो गया वही प्राण धारण का हेतु तो प्राण है कथम उचित जीवन हेतु तो प्राणादि प्राणादिना न संभवती थी तो जीवन का है तो प्राणादि कैसे नहीं हुआ जीवन तो प्राण धारण प्राण धारण का तो प्राण तो होता है तो प्राणादि जीवन हेतु नहीं होगा कैसे कहा तत्र वो जो होगा वो स्वार्थ असंगत होना चाहिए स्वार्थेन असंगतेन परेण केनचित प्रयुतम संहतानाम अवस्थान न दृष्टम गृहादिनाम लोके गृह हे ओ संहत हे अवयव संघात रथवे रथ भी अवयव संघात हे स्वार्थेन असंहतेन गृह स्वार्थ गृह इति पत्र दीवार सब हे ये सब संगत है किंतु असंहत है होता है कोई चेतन गृह स्वामी अन्य है गृह से भिन्न है जो घर में रहता है रहेगा परेण केनचित अप्रयुतम गृह स्वामी के बिना संहत मिलकर के घर बन जाएगा रहेंगे ऐसा नहीं केनचित अप्रयुतम संहताना अवस्थान न दिष्टम गृहादिनाम लोके गृहादियों का अवस्थान गृह कहीं है कोई चेतन के द्वारा प्रवृत्त नहीं हुआ अपने आप कहीं अरण्य में जाए जंगल में देखा बड़े मकान है कि किसने बनाया किसने नहीं बनाया ऐसा अपने आप मान लोगे मकान है तो किसने बनाया जरूर केनचित अप्रयुतम संगत होकर के रहता है कोई मकान हो कुआ हो मंदिर हो किसने नहीं बनाया ऐसे संगत होकर के ये नहीं दिखा गया कहीं यदि संगत करे तो किसने बनाया किसके द्वारा प्रेरित हुआ हाँ। कहीं भी संघात असंगत वो मकान से भी ना कहेंगे मकान ईंट पत्थर बिन करके मकान बना दिया ईंट पत्थर से मिलकर मकान बना देंगे उससे अतिरिक्त कोई चेतन है ये सब देह के असंगत देह से अतिरिक्त परेण के नचित अपृत होकर के संहत पदार्थ नहीं दिखता मकान आदि तथा प्राण आदि नाम अपि संहतत्व तो भवितमरति प्राणपान भी संघात के अंतर्गत है इसलिए उनसे भिन्न कोई चेतन के बिना ये सब मिल करके नहीं रह सकते हैं कोई है तो मिलकर रखेंगे सब मिला करके चेतन प्रयुक्त के बिना अपने आप सर हो गया नहीं होगा टीका में कादाचित कस्य प्राण शरीर संयोगस्य स्वभाव तो अनुपपत्ति संघात से च लोके पर प्रयुक्त सेव दर्शनाद भवितव्यम अनेन संघात प्रयोजकेन इत्यर्थः जो कादाचित का संयोग है कादाचित का अर्थ कभी है कदाचित भव कभी है कभी नहीं है अनित्य अनित्य जो संघा शरीर कादाचित से प्राण शरीर संयोग से प्राण के साथ शरीर का संयोग ये कादाचित का हमेशा नहीं रहता है जो अनित्य कार्य रूप संयोग स्वभावतः नहीं हो सकता है स्वभावत होगा तो हमेशा रहेगा वन्नी का उष्ण स्वभाव है कितने दिन उष्ण स्वभाव वन्नी में रहता है दिन में रहता है रात को रहता है हमेशा रहेगा स्वभाव नष्ट हो गया तो वन्नी भी नहीं रहेगी उष्ण स्वभाव है जब तो वन्नी तब तो उष्ण स्वभाव रहेगा उष्ण स्वभाव को समाप्त करो तो वन्य भी नहीं रहेगा स्वभावतः प्राण शरीर संयोग नहीं हो सकता है अनित्य कादाचित कहे कादा यदि स्वभाव तो होगा तो हमेशा रहेगा कभी है कभी नहीं तो स्वभाव तो नहीं कोई निमित्त से होता है निमित्त के बिना नहीं रहता है संघात से चलो के प्रयुक्त से दर्शनार्थ लोक में देखा गया जो संघात पर प्रयुक्त होता है मकान तो दूसरे बनाया रथ भी संघात दूसरे बनाया दूसरे लिए होता है ये दिखता है तो यहाँ भी संघात देह इंद्र प्राण समुदाय भवितव्यम न संघात न अन्य कोई होना चाहिए जो संघात का प्रयोजक प्रेरक जो निर्माण करता है कराता है उसमें रहेगा तो संघात का प्रयोजक संघात होता है उसे प्रयुक्त उसके द्वारा प्रेरित उसके द्वारा निर्मित होता है संघात बनता है उसके कारण उसके लिए तो ये इसका बनाने वाला जिसके लिए संघात तो अन्य है यहाँ भी देह इंद्रिय समुदाय है संघात है जिससे प्रयुक्त व्यापार होता है देह इंद्रिय में जो इसी व्यापार का प्रयोजक है संघात समुदाय का प्रयोजक है वो अन्य होना चाहिए अन्य न भवितव्यम अन्य भवेत संघात प्रयोजक अन्यो भवेत संघात का प्रयोजक अन्य होना चाहिए क्योंकि जो संघात होता है जड़ वो स्वार्थ नहीं परार्थ है पर कोई होना चाहिए भाष्य में न स्वार्थेन न परेण स्वार्थ में असंगत ऐसे दूसरे से अप्रीत होकर के संगत पदार्थ नहीं रहते लोक में नहीं दिखा गया घर मकान हो मंदिर हो कुआं हो नहीं दिखा गया कोई चेतन से प्रेरित होकर के होते हैं तथा प्राणादि नाम अपि संगतत्वाद्वैतमरति प्राण आदि भी संगत मिले हुए कार्य करते हैं इसलिए कोई चेतन से प्रेरित होकर के चेतन के लिए अत इतरनेव संहत प्राणादि विलक्षणेन तो सर्वे संहता संतो जीवन्ति प्राणांधारयन्ति इतरने तु जीवति इतरने तु जीव न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरने तु जीवति अत इतरण इतर अन्य से अन्य किससे संहत प्राणादि विलक्षण है ना संघत जो संघात के अंतर्गत है उनसे भिन्न जैसे मकान में संघत है ईंट पत्थर दीवार छत सब है उसे अतिरिक्त होता है गृह स्वामी इसी प्रकार यहाँ संगत संगत कौन है संघात के अंतर्गत प्राण अपान इंद्रिय अंतकण सो संगत है इनसे विलक्षण संगत जो प्राणादि उसे विलक्षण इतरने तो जीवति जीवंती जीवंती के सर्वे जीवंती सर्वे संहता संत जीवंती अन्य के द्वारा जीवित रहते हैं इतरे ना ये प्राणपन आदि जितने हैं जीवन धार प्राण धारण करते हैं अन्य से प्रेरित होकर के अन्य के कारण जीवंती प्राणान धारयन्ति जीवंती का तो प्राण धारण करते हैं अन्य के द्वारा अन्य के द्वारा ही जीवित रहते अन्य है उसके कारण प्राण धारण करते हैं वो अन्य कौन है यस्मिन संहत विलक्षणे यस्मिन एता उपासितो जिसमें प्राण प्राण आश्रित है यस्मिन यस्मिन कस्मिन संहत विलक्षणे संगत देहादि संघात में अंतर्गत जितने उसे विलक्षण गृह स्वामी मकान का एक देश है या पूरा अवयव है मकान का एक देश है क्या गृह स्वामी कितने पूरा अवयवी मकान से विलक्षण है असंगत है यस्य असंगतस्य अर्थे संगत विलक्षण आत्मनि संहत से विलक्षण आत्मा जैसे गृह स्वामी संगत ईट पत्थर काष्ठ दीवाल आदि से विलक्षण है इसी प्रकार यहाँ संगत प्राण इंद्रिय अंतकण देह आदि संगत है उसे विलक्षण है आत्मनि सति विलक्षण आत्मा होने पर ये रहते यस्मिन तो उपासितो ये सदरूप आत्मा है ये आत्मा होने पर ही ये तो आश्रित होते हैं ये तो प्राणापानो खाली प्राणापान नहीं चक्षुरादि भी चक्षुरादि के साथ संगतो उपासितो चक्षुरादि के साथ मिल करके आश्रित है प्राणपान यस्य सह तस्य अर्थे प्राणापानादि सव्यापारं कुर्वन् वर्तते सहतसन सततो अन्य सिद्धैते अभिप्राय जो असंगत है जैसे मकान से असंगत गृह स्वामी है इसी प्रकार देह में असंगत जितने किसके लिए यस्य असंगत से अर्थे जो असंगत होना चाहिए देहादि से विलक्षण संघाति के अंतर्गत नहीं उसे विलक्षण है उसके लिए अर्थ है गृह स्वामी घर के अंदर रहेगा ना बाहर रहता है घर के अंदर जब नहीं था मकान बन रहा था उस समय तो घर का अवयव नहीं था जब घर बन गया घर में प्रवेश होगा घर में रहता है सोता है खाता है पीता है रात को सो गया उस समय घर का अवयव हो जाता ना नहीं अवयव होता है अवयव नहीं होता है घर में रहने पर भी घर से संगत नहीं है संहत से विलक्षण ये असंगत वो असंगत है घर में रहने वाले मात्र से संगत नहीं होता है इसी प्रकार देहादि संघाति के अंतर्गत रहने पर भी वो असंगत है असंग है स्वतंत्र अलग है यस्य से अर्थे प्राणापान आदि स्वव्यापारम कुर्वन वर्तते प्राणापान आदि अपने व्यापार करते हुए जिससे असहत के लिए ये व्यापार करते हैं संहतः सन मिल करके प्राण आदि सब मिल करके व्यापार करते जिसके लिए असंगत के लिए जिस प्रकार दीवाल मकान ईंट पत्थर सब मिल करके जिसके लिए घर को दान कर रखते हैं वो अतिरिक्त गृह स्वामी यहाँ देह इंद्र मन बुद्धि आदि से मिल करके जिसके लिए व्यापार करते हैं वो असंहत है स तत्व अन्य सिद्ध इति अभिप्राय स जीव चेतन ये देहादि संघाते से अलग है ये सिद्ध हुआ ये अभिप्राय है तो देहादि संघाते से विलक्षण है चेतना जिसके कारण ही ये प्राणपान व्यापार करते हैं प्राण धारण करना है किंतु ये प्राण धारण भी अपने प्राण स्वयं अपने को धारण करता नहीं ये तो जड़ है स्वयं धारण नहीं करेगा शरीर का धारण क्या करेगा स्वयं अपना धारण नहीं कर सकता जड़ जिस चेतन के लिए चेतन से प्रेरित होकर चेतन ही इनको व्यापार में लगाता है जिसमें वो आश्रित है पंचम मंत्र समाप्त है षष्ठ मंत्र ठीक है येयम प्रेत इति प्रष्टु परलोके अस्तित्व भी संदेह आसित येयम प्रेत चिकित्सा पहले प्रश्न किया था पूछने वाला क्या संदेह था किसमें परलोक अस्तित्व परलोक है देह के बाद देह समाप्त होने पर भी मर जाने के बाद आगे देह से अतिरिक्त कोई आत्मा है या नहीं इसमें संदेह था तो परलोक कोई है या नहीं आगे कुछ अलग है या नहीं संशय था परलोक अस्तित्वेपि परलोके अस्तित्व परलोके अस्तित्वेपि परलोके अस्तित्वेपि कहीं परलोक अस्तित्व परलोके अस्तित्व कौन से परलोक में आत्मा है अथवा नहीं देहातिरिक्त से आत्मनो अस्तित्वेपि देह से अतिरिक्त आत्मा है अथवा नहीं संदेह कहीं पाठे परलोक अस्तित्व परलोक अस्तित्व कहते परलोक से अस्तित्व परलोक संदेह आसित लिखित परलोक संदेह ठीक है परलोक अच्छा परलोके संदेह आसित ऐसा लिखित पुस्तक में पाठ टिप्पणी दिया परलोक में संदेह परलोक में अरे परलोक के अस्तित्व कहने से परलोक होने पर परलोक में आत्मा है इसमें संदेह ये देह से विलक्षण आत्मा है अथवा नहीं प्रश्न है वो तो परलोक में रहेगा नहीं तो नहीं रहेगा तो परलोक कोई एक क्या है जो मरने के बाद रहेगा जाएगा तो मरने के बाद कहीं जाता है ऐसा परलोक है कहीं जाने के लिए आत्मा कोई अलग है जो निकल जाता है ये संदेह था विशेषतः निवृत्त्यर्थम उच्यते इत्याह विशेष कर उसके निवृत्ति के लिए स्पष्ट करके आप कहते हैं हे परलोक इसी शरीर से छोड़कर जाता है तो आगे अन्य अन्य लोग को प्राप्त करते हैं कर्म के अनुसार प्राप्त करते हैं उसके लिए आगे कहते हैं हंतत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम हंत ते इदं प्रवक्ष्यामि अभी तुमको कहूँगा कहूँ कहता हूँ ब्रह्म सनातन गुह्यम जो गुह्य अत्यंत गोप्य है सनातन नित्य है चिरंतन उसमें कहूँगा यथा च मरण प्राप्य उसके ज्ञान होने पर तो मोक्ष और उसके ज्ञान नहीं हो तो मरण को प्राप्त करेगा ज्ञान नहीं हो तो मरण को प्राप्त करके फिर आत्मा भवति फिर आत्मा संसार को प्राप्त करता है अभी मैं बताता हूँ हंत इदानीम हंत का इदानीम पुनरपिते ते तुभ्यम इदम गुह्यम इदानीम फिर कहूँगा पहले भी कहा था फिर कहूँगा ते का था तुभ्यम इदम प्रवक्षामि गुह्य इदम गुह्यम प्रवक्षामि गुह्य में कहा तो गोप्यम सबको नहीं कहना होता है ना पुत्राय ना शिष्याय मतिन दद्यात जो पुत्र नहीं शिष्य नहीं उसको नहीं कहना अनधिकारी के उपदेश नहीं करना इसलिए गोप्य कहा गया नहीं तो उपदेश व्यर्थ हो जाता है गोप्य है ब्रह्म सनातनम कहते चिरंतन प्रवक्ष्यामि ये कहूंगा यद विज्ञानात सर्व संसार उपरम भवति जिसके विज्ञान से विज्ञान शब्द कहने से विशेष ज्ञान है सामान्य ज्ञान कहेंगे तो संशय भी ज्ञान है ब्रह्म भी ज्ञान है रज्जु में सर्प देख रहा है तो सर्प ज्ञान है या नहीं वो ज्ञान है रज में सर्प देखता है तो उसको ज्ञान कहा जाएगा हैं हाँ डर लगता है ज्ञान करने के लिए सज्जु है अथवा सर्प है ऐसा संशय किसको है सर्प का निश्चय नहीं रज्जु है का निश्चय नहीं देखता है पता नहीं रज्जु है या सर्प है तो उसको ज्ञान है क्या ज्ञान है संशय भी ज्ञान है भ्रम भी ज्ञान है और परोक्ष विज्ञान होता है शब्द से सुना तो परोक्ष ज्ञान हुआ विज्ञान कहेंगे तो अपरोक्ष ज्ञान विशेष ज्ञान इसलिए विज्ञान कौन से आत्मा का विज्ञान संशय आत्मा का ज्ञान हुआ और ब्रह्म ज्ञान तो सब कहे देहादि को मिलाकर कहते मैं मनुष्य हूं वो ज्ञान संशय ज्ञान ब्रह्म ज्ञान वो ज्ञान से कुछ नहीं होता है विज्ञान चाहिए अपरोक्ष ज्ञान संशय विपर रहित ज्ञान यस्य हां हाँ यद विज्ञान सं, सर्व संसार उपरम भवति जिसके विज्ञान से जिससे ब्रह्म गोप्य है सनातन कहूंगा जिससे ब्रह्म के विज्ञान से विशेष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान संशय विपरीत ज्ञान और ब्रह्म का विज्ञान तद असो व ऐसा नहीं अहम अस्मि क्योंकि ब्रह्म अद्वितीय है ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं है ब्रह्म का विज्ञान किसको देता है वह ब्रह्म वह यह मेरे सामने ब्रह्म मेरे से भिन्न तो ब्रह्म का ज्ञान हुआ ब्रह्म है अद्वितीय और मेरे से भिन्न यदि ज्ञान हुआ वो ब्रह्म अद्वितीय हुआ क्या ब्रह्म यदि आपसे भिन्न होगा तो ब्रह्म अद्वितीय होगा या आप अद्वितीय हो कौन अद्वितीय अद्वितीय कोई नहीं हुआ तो अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान जब होगा भिन्न रूप से नहीं होगा भिन्न रूप से ज्ञान होता अद्वितीय नहीं हुआ सद्वितीय हो गया अद्वितीय ब्रह्म हो तो अहम अस्मि ज्ञान तो ऐसे ज्ञान होता है वो भी वो अहम अस्मि शब्द से तो बताना पड़ता है जिसको ज्ञान होता है हम ब्रह्माकार वृत्ति करता अंत में तो एक अद्वित स्वरूप हुआ अंतकण भी अलग नहीं वृत्ति करने के लिए पहले तो अंतकण वृत्ति होती है फिर जब स्वयं ब्रह्म है ब्रह्म से भिन्न स मिथ्या है तो अंतकण मिथ्या है सत्य है अंतकरण भी मिथ्या है अंतकरण जो ब्रह्माकार वृत्ति होगी वो सत्य है मिथ्या है मिथ्या है जो ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है अज्ञान का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान मिथ्या है सत्य है मिथ्या वस्तु अज्ञान को नष्ट करेगा मिथ्या कार्य है अंतकरण वृत्ति कारण अज्ञान का निवर्तक क्योंकि वो कारण अज्ञान भी मिथ्या है वो कोई सत्य है क्या और ज्ञान भी मिथ्या है इसलिए मिथ्या का निवर्तक ऐसे ज्ञान भी ज्ञान तो मिथ्या है किंतु ब्रह्म विषय को होने से कहें कि उसको सत्य कह देते हैं सत्य विषय को होने से सत्य कह देते हैं सत्य ब्रह्म को विषय करने वाले ब्रह्माकार वृत्ति घटाकार वृत्ति घट है मिथ्या अब ब्रह्माकार वृत्ति का विषय ब्रह्म है सत्य है इसे सत्य विषय को होने से वो अज्ञान का निवर्तक हो जाता है तो शुद्ध स्वरूप है विज्ञान उसके विज्ञान होने से साक्षात्कार होने पर यस्य विज्ञानात् सर्व संसार उपरम पूरा संसार उपरम संसार समाप्त है आगे नहीं देखता है कि मेरा संसार चला गया बाकी सब संसार में है है ही नहीं संसार समाप्त हो गया स्वप्न से जग गया तो देखा और कोई सपना में जितने सब रो रहे थे कोई नहीं रोने वाला सब शांत कोई है ही नहीं उपराम होता है अभिज्ञानास्य यस्य मरणम प्राप्य और ज्ञान नहीं तो तब जन्म मरण चक्र को प्राप्त करता है ऐसे अनादि काल से घूम रहा है चक्र में आरूढ़ होकर के प्रवाह में बहता जाता है जन्म मरण जरा व्याधि जब तक तो ज्ञान नहीं तब तक तो मरणम प्राप्य यथा आत्मा भवति आत्मा भवति क्या होता है संसार को प्राप्त करता है मरने के बाद क्या होता है मनेगा तो उसको लेकर कहीं रख देते हैं फिर संसार को प्राप्त करेगा थोड़ी दिन स्वर्ग में जाएगा थोड़ी दिन नरक में रहेगा फिर पेड़ पौधे भेड़ बकरी कीड़े मकोड़े सब बनेगा फिर भटकेगा ये नहीं कि हमेशा ही साधु बन जाएगा मनुष्य बन जाएगा ऐसा नहीं कभी क्या बनेगा कभी क्या बनेगा ये कहेंगे यथा थी तथा श्रेणु हे गौतम सुनो करके आगे कहेंगे क्या बनता है कैसे बनता है क्या क्या हो सकता है इसमें आगे स्पष्ट श्रुति कहती मरने के बाद क्या-क्या हो सकता है दो तीन चार नाम ले लेंगे अलग-अलग सब सब प्राप्त करते हैं इसलिए उसको समझ करके तैयारी रहना ये यदि ज्ञान नहीं होगा तो आगे क्या बनना पड़ेगा और समझना कुछ लोग बड़े खुश होकर रहते कोई नहीं अगले जन्म में साधन करेंगे अगले जन्म में कहाँ बनना पता है पेड़ बनना है या भेड़ बनना है ॐ सहना भवतु